यहया बिन यहया यहया बिन अयूब उतैबा और इब्न हुजर ने इस्माइल बिन जाफर से हदीस बयान की कहा अब्दुल्ला बिन दिनार से रिवायत है कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तुमा से सुना वो कह रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांच मूजी जानवर हैं जो उन्हें एहराम की हालत में मार दे उस पर कोई गुना नहीं चूहा बिच्छू कौवा चील और काटने वाला कुत्ता الفاظ یحییٰ بن یحییٰ کے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھہتر